हाँ और पता है एंड में क्या होता है फ्लाइट में बैठे हुए अनुष्का इस वक्त विक्रांत को किसी क्राइम नॉवेल की कहानी सुना ही रही थी मतलब जैसा स्टोरी का टाइटल था कि एंड देर वन नन वैसे ही एंड भी होता है एंड में कोई भी जिंदा नहीं बचता है और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिस जज को इस केस का फैसला करना था अंत में वो भी सबका मर्डरर निकलता है ओह विक्रांत काफी इंटरेस्ट के साथ अनुष्का की इस स्टोरी को सुन रहा था मतलब कि वो जो जिक्र था वो भी साइको किलर था उसी ने एक एक करके सबका मर्डर किया था लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसने इतने लोगों का एक साथ मर्डर क्यों किया कुछ तो वजह रही होगी सर वो साइको था यही वजह थी अरे साइको था फिर भी मर्डर की कोई ना कोई वजह तो रही होगी ना उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जिससे उसने इतने लोगों का खून कर दिया विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया अब पता नहीं सर नॉवल में इस बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं लिखा था जितना स्टोरी में था वो मैंने आपको बता दिया है अनुष्का ने भी बात को टालते हुए कहा सर ये नया अपडेट आया है विक्रांत के बगल वाली सीट पर बैठे हर्षित ने विक्रांत को अपना फोन दिखाते हुए कहा अरे फ्लाइट में भी फोन नेटवर्क कैसे आ रहा है तुम्हारे फोन में विक्रांत ने बेहद कंफ्यूज होते हुए हर्षित से सवाल किया अरे सर वो सब छोड़ो मेरे लिए वो की बड़ी बात नहीं बड़ी बात तो ये न्यूज है हर्षित ने विक्रांत को फोन में आए हुए मैसेज को दिखाते हुए कहा वहां पर दो विक्टिम की जान बच गई है अच्छा हाँ वो जो समंता के मर्डर होने की न्यूज आ रही थी ना एक्चुअली उसको रेस्क्यू कर लिया गया है डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंच गई थी उन लोगों ने समंता को बचा लिया और दूसरा दूसरा सर्वाइवर कौन है विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया सर दूसरा एक मेल है वो खुद को फिल्म प्रोड्यूसर बता रहा है लेकिन रियलिटी में वो कुक है खाना बनाता है हर्षित ने विक्रांत को बताया इसके बाद उसने आगे बताया वर्कला की लोकल पुलिस सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंची थी उनके पास ही सबसे पहले कॉल गई थी क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद उन्हें सिचुएशन काफी सीरियस लगी इसलिए उन लोगों ने तुरंत हेडक्वार्टर इन्फॉर्म किया और फिर हेडक्वार्टर की तरफ से तुरंत ही सेंट्रल सीआईडी को इन्फॉर्म किया गया और फिर वहां से ये केस हम लोगों को हैंडओवर कर दिया गया है जो दो सर्वाइवर हैं उन लोगों को भी कोई सीरियस चोट नहीं लगी है लेकिन थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं वो दोनों रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो लड़की थी उसे एक स्टूल पर खड़ा करके उसके गले में रस्सी बांध कर लटका दिया गया था मतलब उसका मर्डर करने के उद्देश्य से ही उसे लटकाया गया था फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा जबकि जो दूसरा वाला है वो कुक है उसके साथ तो और भी बुरा हुआ था उसे तो जमीन में गाड़ दिया गया था सिर्फ उसका चेहरा बाहर निकाला हुआ था और फिर उसके चेहरे के पास आग लगा दी गई थी यानी कि उसे जलाकर मारने की कोशिश की गई जब पुलिस क्राइम लोकेशन पर पहुंची तो दोनों की सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही थी उन लोगों को जब पुलिस वहां से लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो पता लगा कि उनकी मेंटल कंडीशन बहुत खराब है ऐसे में उन्हें मेंटली फिट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया गया था साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट मिलने के बाद अब उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक है और अब वो लोग घटना के बारे में थोड़ा बहुत बता पा रहे हैं और अभी तक टोटल कितने लोग मर चुके हैं अनुष्का ने हर्षित की तरफ देखते हुए सवाल किया अभी तक तो कुल छह लोग मारे जा चुके हैं मतलब कि लोगों के मारे जाने की खबर मिल चुकी है हर्षित ने विक्रांत और अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा जितने लोग मरे हैं उन सभी का मर्डर अलग अलग तरीके से हुआ है सबको मारा उसी बीच पर गया है लेकिन कहाँ पर और कैसे कैसे मारा गया है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है लोकल पुलिस बीच पर सर्च अभियान चलाते हुए बाकी की डेड बॉडीज को ढूंढने में लगी हुई है तो अभी मरने वालों की फाइनल संख्या पता नहीं चली है हे भगवान छह लोग छह लोगों का मर्डर हुआ है और वो सब के सब फिल्म में काम करने वाले लोग थे आखिर उन्हें कोई क्यों मारेगा वो भी इतनी निर्दयता से अनुष्का ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा उन लोगों का आपस में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था वरना क्यों इतने लोगों का मर्डर एक साथ होगा रुको मुझे देखने दो विक्रांत ने हर्षित के हाथ से फोन छीन कर खुद ही उसमें देखना शुरू कर दिया हर्षित के पास ये सभी इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर से कमांडिंग ऑफिसर अनूप सहगल ने भेजी थी दरअसल जिस फिल्म क्रू की टीम के लोगों का मर्डर हुआ था वो सभी लोग इंडिपेंडेंट फिल्म कंपनी में काम करते थे इस फिल्म कंपनी का नाम चैंपियन पिक्चर्स है कंपनी नई है सो उनके पास ना तो ज्यादा फंड है और ना ही ज्यादा स्ट्रांग टीम है ये फिल्म कंपनी ज्यादातर तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की ही फिल्में बनाती है ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है सो फंडिंग के लिए भी ये लोग दूसरे प्रोडक्शन हाउस पर डिपेंड रहते हैं ज्यादातर आउटडोर शूटिंग शुरू करने से पहले ये लोग अपने ट्रेवलिंग का डिटेल अपनी फंडिंग कंपनी के पास भेजते हैं और फिर जब फंडिंग कंपनी बिल पास करती है तब इन्हें पैसा मिलता है और फिर ये लोग शूटिंग स्टार्ट करते हैं और फिर जब फिल्म बन के रिलीज होती है और कमाई शुरू होती है तब उस कमाई का काफी हिस्सा इन फंडिंग कंपनियों के पास जाता है चैंपियन पिक्चर्स अभी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई कंपनी थी ऐसे में उन लोगों को फिल्म मेकिंग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है सो ये लोग अभी ज्यादातर शॉर्ट फिल्म लो कास्ट वाली डिजिटल वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री आदि बनाते हैं कभी कभी तो ये लोग एड फिल्म की भी शूटिंग कर लेते हैं वर्कला बीच पर ये लोग ऐसी ही किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे अभी ये लोग खुद को तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जमाने की कोशिश कर रहे थे ताकि इन्हें अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स मिल सके और फिर ये लोग आगे चलकर बड़ी बड़ी फिल्में भी बना सकें जिस तरह की शॉर्ट फिल्म अभी ये लोग बना रहे थे उसका बजट बामुश्किल चार पाँच लाख रुपए तक का ही होता है ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है इतने पैसे लगाकर अगर ये लोग एक दो अच्छी शॉर्ट फिल्म बना लेंगे तो फिर इन्हें बड़े प्रोडक्शन हाउस से आगे की फिल्मों के लिए फंड मिल सकता है और फिर ये लोग करोड़ों अरबों का गेम खेलना शुरू कर देते हैं छोटे छोटे फिल्म मेकर्स की यही कहानी होती है इसी के जरिए ये लोग बड़े फिल्म मेकर बनते हैं इसके साथ ही छोटे छोटे फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों में बहुत गलत काम धंधे होते हैं कास्टिंग काउच और कई बार तो मेल एक्टर्स तक को शोषण का शिकार होना पड़ता है नए नए एज के लड़के फिल्मों में एक्टर और एक्ट्रेस बनने के लिए कई बार गलत डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फेर में पड़ जाते हैं फिर वो लोग फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर न सिर्फ इनका फिजिकली और मेंटली शोषण करते हैं बल्कि कई बार तो इनसे पैसे भी ऐंठते हैं हालांकि विक्रांत इन सब चीजों से भली भांति वाकिफ था मुंबई में रहने के नाते उसे फिल्म इंडस्ट्री के सभी डार्क सीक्रेट पता थे लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है उसकी उम्मीद विक्रांत को नहीं थी अभी तक मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चैंपियन पिक्चर्स वाले वरकोला बीच के रियल लोकेशन पर शूट इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जिस शॉर्ट फिल्म की वो शूटिंग कर रहे थे उसकी पूरी स्क्रिप्ट ही आईलैंड की स्टोरी डिपेंड थी जिस शॉर्ट फिल्म की वो लोग शूटिंग कर रहे थे उसका नाम लाइट हाउस था फिल्म की पूरी स्टोरी आईलैंड और वहां पर बने एक लाइट हाउस के इर्द गिर्द घूम रही थी और इन लोगों ने केरल के वर्कोला बीच पर ही शूटिंग इसलिए करना चूज किया था क्योंकि वर्कला आइलैंड पर 70 और 80 के दशक में वाकई में एक लाइट हाउस हुआ करता था इस लाइट हाउस की मदद से समुद्र में आने वाली जहाजों को सिग्नल दिया जाता था इन लोगों ने फिल्म का सेट आइलैंड पर जिस जगह पर बनाया हुआ था वहां से ये लाइट हाउस साफ नजर आ रहा था अब जाकर विक्रांत को समझ में आया कि आखिर क्यों ये लोग मेन बीच से इतना दूर जाकर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे पहले तो विक्रांत को लग रहा था कि शायद मेन बीच पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है इस वजह से ये लोग वहां से हटकर शूटिंग कर रहे थे जबकि शूटिंग को मेन बीच से हटाकर सन्नाटे वाले एरिया में ले जाने का मकसद तो लाइट हाउस को कैमरे की फ्रेम में लाना था फिल्म क्रू की टीम में एक्टर एक्ट्रेस और कैमरामैन समेत कुल सत्रह लोग थे ये सभी लोग शूटिंग में साथ काम कर रहे थे अब इन सभी लोगों को खोजा जा रहा है ऐसे में जल्दी ही मौत का सही आंकड़ा पुलिस को मिल जाएगा बचे हुए क्रू मेंबर ने पुलिस को बताया था कि उनका शूटिंग शेड्यूल पूरा एक महीने का था और उन्हें यहाँ पर शूट करते हुए भी लगभग तीन हफ्ते हो चुके थे कल शूट का लगभग आखिरी दिन था इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने वाले थे लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया सत्रह लोग और फिर उनमें से छह की मौत ऐसा क्या हुआ रहा होगा वहाँ कैसे एक साथ इतने लोग मरे ऐसा क्या हो सकता है विक्रांत हैरत में पड़कर सोचे जा रहा था